परम पिता परमात्मा का स्मरण सबका पालन करने वाला परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ дан premises છે ને પરમાત્મા કે પ્રતિ ہم ધાર્મિકો કો શ્રેષ્ઠો કો આર્યો કો ક્યા ભાવ رکھنا ચાહીએ اس કા દિશા નિર્દેશ દેને કે liye આજ કે ઇસ મંત્ર કો ભી વૈક્ષિતાયનંદ ને આર્ય અભિવેનાય કે તીતિયે પ્રકાશ મે 46મી સંખ્યા પર رکھا હૈ आज का मंत्र यजुर्वेद के तेईसवें अध्याय का उन्नीसवां मंत्र है मंत्र है गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे निधीनाम त्वा निधिपतिम हवामहे अहम अजानी गर्भधम आत्म अजासी गर्भधम परमात्मा को आर्य संबोधित कर रहा है एक धार्मिक व्यक्ति जानकार व्यक्ति संबोधित कर रहा है हे प्रभो हे बसो हे सबको बसाने वाले परमात्मा पहली पंक्ति के अंत में आया वसो मम मेरे को वसाने वाले हम सबको वसाने वाले हे वसु परमात्मा आप कैसे हैं गणा नाम त्वा गणपतिम हवा महे आप गणों के गणपति हैं जो विभिन्न समूह हैं समुदाय हैं उन सबके पालक रक्षक आप हैं ऐसा हम लोग कहते हैं स्वीकार करते हैं जीवन जीते हुए हम विभिन्न समूहों के संपर्क में आते हैं और विभिन्न समूहों से हम अपनी रक्षा करते हैं जीवन चलाते हैं हमारा देश उसकी सेना वो एक समूह है और वो हमारी रक्षा करती है न्याय व्यवस्था न्यायपालिका एक समूह है प्रशासक एक समूह है अपने अपने समुदाय अपना अपना ग्राम वो भी एक समूह है गण है और इन विभिन्न गणों के बीच में रहते हुए हम अपना जीवन चलाते आसानी से चला पाते इन गणों के बीच में रहते हुए इनसे लाभ प्राप्त करते हुए एक कृतज्ञ व्यक्ति मन में क्या भाव लाएगा कि इन सबके कारण से मैं अपना जीवन चला पा रहा हूं ये विभिन्न समूह मेरे रक्षक हैं और उन्हीं के प्रति कृतज्ञता साक्षात देखेगा समझेगा उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी भी चाहिए उतने अंश में वो ठीक है लेकिन एक आर्य को क्या दृष्टि रखनी चाहिए इन गणों के प्रति आदर कृतज्ञता रखते हुए भी उसे ये समझना चाहिए कि इन सब गणों का रक्षक भी कोई और है और वो परमात्मा है गण हमारे रक्षक हैं लेकिन इन गणों का भी पालक और रक्षक वो परमात्मा है ये हमारे मन में आर्यों के मन में होना चाहिए और वही ये वाक्य परमात्मा आर्यों के मुख से कहलवाना चाह रहे हैं गणानाम त्वा गणपतिम हवा महे हम सब आपको इन सब गणों का रक्षक स्वीकार करें दूसरी दृष्टि से जो विभिन्न गणों के संचालक होते हैं अधिक सामर्थ्य युक्त तो होते हैं नेतृत्व करते हैं व्यवस्था करते हैं उनके मन में एक भाव आ सकता है कि मैं इन गणों का रक्षक हूं संचालक हूं चूंकि मैं इनकी व्यवस्था करता हूं मैं इनको निर्देश करता हूं मैं इनकी समस्याओं को सुलझाता हूं मैं इनकी भोजन की व्यवस्था करता हूं तो लोक में जो गणों के पति होते हैं गणपति होते हैं अधिकारी होते हैं उनके मन में ये भाव आ सकता है लेकिन जो आर्य गणपति होगा जो आर्य निर्देशक होगा वो ये बोलेगा हे प्रभो हे वसो गणानाम त्वा गणपतिम हवा महे इन गणों का स्वामी तो मैं वास्तव में आपको ही मानता हूं क्योंकि आपके दिए सामर्थ्य से ही आपके दिए हुए ज्ञान से ही व्यवस्था से ही मैं इनका संचालन कर पा रहा हूं इसलिए मूल रूप से इन सब का संचालन करने वाले इनका रक्षा इनकी रक्षा करने वाले आप ही हैं गणपति तो आप ही हैं सब गणों के गणपति और गणपतियों के भी गणपति आप ही हैं ऐसा हम कहते हैं हम पुकारते हैं ऐसा हम स्वीकार करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए और परमात्मा को शुद्ध रूप से देखने के लिए आर्य के मन में ये भाव होना आवश्यक है नहीं तो वो परमात्मा को विस्मृत करके परमात्मा के स्थान पर स्वयं को रख लेगा और स्वयं को ही उस सब का श्रेय देने लगेगा जो कि एक अहंकार की स्थिति है अविद्या की स्थिति है और ये भाव उस परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं होने देगा तो एक आर्य कह रहा है हे बसो हे बसाने वाले मेरे बसाने वाले गणानाम त्वा गणपतिम हवा महे समस्त गणों का गणपति मैं आपको स्वीकार करता हूं हम सब आपको ही गणपति स्वीकार करते हैं जीवन चलाते हुए हमें और भी चीजें मिलती हैं जो हमारा हित करती हैं जो हमारे लिए बहुत प्रिय होती हैं जो जो वस्तु और जो जो व्यक्ति हमारा हित करते हैं हमें वो प्रिय लगते हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं धार्मिक व्यक्ति उनके प्रति कृतज्ञ होता है उनका उपकार मानता है लेकिन आर्य को उससे ऊपर बढ़कर के भी एक भावना रखनी है वो कहा प्रियाणाम त्वा प्रिय पतिम हवा महे इन समस्त प्रियों के भी पालक प्रियपति हम आपको ही स्वीकार करते हैं ये जितने प्रिय हैं इन सबकी रक्षा और पालक आप हैं रक्षा करने वाले आप हैं पालक आप हैं यदि आप इनकी रक्षा न करें व्यवस्था न करें तो ये मेरा प्रिय हिताचरण नहीं कर सकते ये मेरे प्रिय नहीं बन सकते इसलिए इनके पीछे भी आप ही विद्यमान हैं तो इनको प्रिय समझते हुए भी इनको प्रिय मानते हुए इनके प्रति यथा योग्य कृतज्ञता रखते हुए भी आर्य को अपने मन में ये भाव रखना चाहिए कि प्रिय पति तो वो परमात्मा है और इसलिए इन प्रियों से भी प्रिय मैं उसको स्वीकार करूं दूसरे ढंग से देखेंगे तो हमारे बहुत से प्रिय व्यक्ति होते हैं प्रिय वस्तुएं होती हैं हमारे मन में ये भाव आ सकता है कि चूंकि मैं इनके प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा हूं इनका हित कर रहा हूं इसलिए ये मेरे प्रिय बने हुए हैं ये मेरा भी हित करते हैं मेरे से प्रेम से बोलते हैं मेरे से अच्छा व्यवहार करते हैं मैं चूंकि इनसे अच्छा व्यवहार कर रहा हूं इसलिए ये मेरे से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो ये जो जितने प्रिय मैंने इकट्ठे किए हैं किए हैं समर्थक मेरे हैं मेरे लिए मरने को तैयार हैं आपत्ति काल में मेरी सहायता के लिए तैयार हैं जिन्हें मैं अपना आश्रय समझता हूं वो मेरे कारण से है मेरा व्यवहार ऐसा अच्छा है इनके साथ जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता उनके प्रिय व्यक्ति भी कम होते हैं या नहीं होते इसलिए इनकी प्रियता का आधार मैं हूं तो आर्य के मन में क्या भाव आया आर्य को क्या कथन करना है तो वेद में कहा प्रियाणाम त्वा प्रिय पतिम हवा महे हे प्रभो तेरे को ही इन सब प्रियों का पालक हम कहते हैं हम स्वीकार करते हैं क्योंकि यही वास्तविकता है हम जो अन्यों के साथ में ठीक व्यवहार कर रहे हैं उचित व्यवहार कर पा रहे हैं उसमें आपका बहुत सहयोग है आपके आश्रय से हम इन सबसे प्रिय व्यवहार कर पा रहे हैं आपके दिए हुए ज्ञान से आपके दिए हुई सामर्थ्य से आपके दिए हुए शरीर से इसलिए प्रिय पति तो आप ही हैं जिनको मैं अपना प्रिय बना पाया हूं उसमें भी आपका श्रेय है आपका आधार है इसलिए प्रियाणाम त्वा प्रिय पतिम हवा मही हमारा आकर्षण एक तो समूहों के साथ में होता है और अपने प्रिय लोगों के साथ में होता है इनका आश्रय पाकर के हम अपने को आश्वस्त समझते हैं हम अपने आप को निर्भय समझते हैं जिसके पास कोई गण ना हो समूह ना हो वो अकेला छिटका हुआ अपने आप को अनाथ समझता है लेकिन गण हो समूह हो संघ हो बहुत आत्मविश्वास होता है निर्भयता होती है इसी तरह से प्रिय व्यक्ति और प्रिय वस्तुएं हो तो व्यक्ति बहुत आश्वस्त रहता है शांत रहता है निश्चिंत रहता है तो ये दो बड़े वर्ग यहां पर बताए गए और तीसरा बड़ा वर्ग कहा निधि नाम त्वा निधिपतिम हवा महे व्यक्ति अपनी निधि से संपत्ति से संग्रह से भी बहुत आश्वस्त रहता है जिसके पास धन ना हो धन की निधि ना हो तो बेचैन हो जाता है और धन पर्याप्त हो कि मेरे जीवन भर के लिए मेरी समस्त आवश्यकताओं के लिए मैं रुग्ण हो जाऊं तो आपत्ति काल में मेरे पास धन है संपत्ति है निधि है तो व्यक्ति अलग ढंग से निश्चिंत तो होकर के चलता है तो हम निधि का आश्रय लेते हैं धन एक निधि है ज्ञान की भी एक निधि होती है ज्ञान का आश्रय लेके भी हम बहुत आश्वस्त रहते हैं जिनके पास ज्ञान की न्यूनता होती है वो भी असमंजस में रहते हैं संदेह में रहते हैं तड़पते हैं मेरे को भी ज्ञान प्राप्त हो जाए बल भी एक निधि है जिनके पास बल नहीं है वो आश्वस्त नहीं रह सकते कठिनाई होती है तो धन हो बल हो ज्ञान हो अन्य कोई भी निधि हो उन सब निधियों के आश्रित हम अपना जीवन चलाते हैं उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं निधियों को हम प्राप्त करते हैं और संतुष्ट भी होते हैं एक सीमा तक उन निधियों के प्रति हमारे मन में भाव आ सकता है कि इन निधियों के कारण ही मैं अपना जीवन ठीक चला पा रहा हूं प्रगति कर पा रहा हूं तो समस्त श्रेय हम उन निधियों को देने लगते हैं या दे सकते हैं उन निधियों को प्रमुख रूप से देखने लगते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष वही उपयोगी हमें नजर आते हैं लेकिन आर्य को क्या भावना करनी है वित्त का आदेश है निधि नाम त्वा निधिपतिम हवा महे हम आर्य लोग इन निधियों के निधिपति को निधियों के भी स्वामी को किसको उस परमात्मा को स्वीकार करें हे प्रभो त्वा तेरे को हम इन समस्त निधियों का स्वामी हवा महे स्वीकार करते हैं पुकारते हैं इन समस्त निधियों के भी रक्षक आप हो बिना आपकी सहायता के ये निधियां हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती अब इसी को भी दूसरे ढंग से देखें विभिन्न निधियों को इकट्ठा करते हुए व्यक्ति के मन में आ सकता है मैंने इन निधियों को उत्पन्न किया है एकत्र किया है इनकी सुरक्षा मैं कर रहा हूं इनका उपयोग अन्यों के लिए कर रहा हूं मैंने ये निधि बनाई है ये जल का संग्रह किया है ये अन्न का संग्रह किया है इन सबको करने वाला मैं हूं विभिन्न साधनों का संग्रह किया है गोदाम है ये सब करने वाला मैं हूं तो आर्य यहां सोचे निधि नाम त्वा निधिपतिम हवा महे हे प्रभो ये जितनी निधियां हैं तेरे को ही मैं निधिपति स्वीकार करता हूं हम सब तेरे को ही निधिपति मानते हैं इन समस्त निधियों का रक्षक तू ही है तेरी सहायता के बिना न तो ये निधियां बन सकती हैं और न ही मैं इनकी रक्षा कर सकता हूं तो परमात्मा को परमात्मा के उपकार का श्रेय देना परमात्मा के उपकारों को स्वीकार करना कृतज्ञता ये एक बहुत बड़ा गुण है अध्यात्म के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसलिए महर्षि दयानंद ने कृतज्ञ व्यक्ति को बहुत कठोर शब्द लगते हुए कहा कि वो महामूर्ख है जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता वो मूर्ख है वो अपनी हानि कर रहा है मूर्ख उसे ही कहते हैं जिसे अपने हित अहित का पता नहीं है और जो कृतज्ञ नहीं है वो मूर्ख ही है और जो परमात्मा के प्रति कृतज्ञता नहीं रखता है वो तो महामूर्ख है इतनी कृतज्ञता होते इतनी कृपा होते हुए इतने उपकार होते हुए भी जो मनुष्य जो धार्मिक व्यक्ति परमात्मा के प्रति कृतज्ञता नहीं रखता वो महामूर्ख है इस प्रथम पंक्ति के अंदर परमात्मा के प्रति हमारी क्या कृतज्ञता होनी चाहिए परमात्मा को हम किस रूप में स्वीकार करें उसका एक स्वरूप प्रस्तुत किया गया अगली पंक्ति में कहा अहम अजाने गर्भधम अहम मैं अजानी जानू जानियाम गर्भधम गर्भध को जानू गर्भध गर्भम दधाती इति जो गर्भ को धारण करता है गर्भ का धारण करने वाला है वो उसको गर्भधम अहम अजानी मैं जानू ये जो ऊपर तीन बातें कही गई गण की निधि की और प्रिय की इन सबके पीछे परमात्मा का रक्षा कार्य कहां है कहां दिखाई देता है बाहर से तो हमें मनुष्य ही इनकी रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं हम स्वयं इनकी रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं परमात्मा की रक्षा कैसे हो रही है परमात्मा कैसे इनकी रक्षा कर रहा है तो परमात्मा इनकी गर्भ के समान रक्षा करता है ये गर्भधम कौन है किस परमात्मा किसको हम गर्भ को धारण करने वाला जाने मैं उस गर्भधम अहम अजानी गर्भधम ये कौन सा गर्भधम है ये वही है जो ऊपर तीन चीजों में कहा गया है जिस कारण से परमात्मा को गणपति या प्रियपति माना गया निधिपति माना गया वो वो कारण है जो इस गर्भ को धारण करने वाला है वो परमात्मा का सामर्थ्य है मैं उस सामर्थ्य को जानूं गर्भ कहते हैं कारण को बीज को किसी भी प्राणी का उत्पत्ति से पूर्व जो शरीर होता है वो गर्भ में होता है जो जरायुज होते हैं वो गर्भ में ही उत्पन्न होते हैं अंडज भी गर्भ में होते हैं उनका अपना स्वरूप होता है स्थिति होती है वो बीज रूप होता है बहुत छोटा सा होता है और जन्म के बाद वही विकसित होकर के इतना बड़ा बन जाता है इतना सामर्थ्य वाला बन जाता है लेकिन गर्भ का महत्व जीवन के लिए आवश्यक है वो बीज रूप में है वो कारण रूप में है तो जिस प्रकार से गर्भ का धारण किया जाता है माता ये समझेगी कि मैं भोजन ले रही हूं अन्य चिकित्सक समझेंगे हम चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन फिर भी गर्भ को धारण करने वाला परमात्मा होता है उसकी सामर्थ्य से वो टिका हुआ है इसी प्रकार से बाहर से कुछ भी दिखाई देता हो गणों में निधि में प्रियो में उन सब के पीछे परमात्मा इनको धारण करने वाला है ये जितनी चीजें हैं गण आदि इनका जो कारण है इनका जो बीज है उसकी रक्षा करने वाला परमात्मा है हम गणों का समूह बनाते हैं गणों को संग्रहित करते हैं प्रिय वस्तुओं को संग्रहित करते हैं ये ऊपर ऊपर से करते हैं ये तो बाहर का कार्य है लेकिन इसका जो मूल है गर्भ है कारण है उसकी रक्षा कौन कर रहा है उसकी रक्षा परमात्मा कर रहा है तो अहम अजानी गर्भधम मैं उस गर्भ को धारण करने वाले को गर्भ को धारण करने की सामर्थ्य को जानू परमात्मा गणपति है प्रियपति है निधिपति है कैसे है वो निधिपति कैसे है वो गणपति तो वो उसकी सामर्थ्य वही है कि जैसे गर्भ को धारण करता है उसे मैं जानू मनुष्य का ये कर्तव्य है आर्य का ये कर्तव्य है कि परमात्मा के इस सामर्थ्य को जाने अहम अजानी गर्भधम और इससे क्या होगा क्यों मैं जानू परमात्मा को इस गर्भ को धारण करने की सामर्थ्य को क्यों समझूं तो उसको समझ के क्या होगा तो वो परमात्मा को कह रहा है आत्वम अजासी गर्भधम तम तू आ अजासी तू उसको प्राप्त हो जाए किसको गर्भधम जो गर्भ को धारण करता है उसको तू तो प्राप्त हो जाए मैं गर्भ को धारण करने वाले को जानू और तू गर्भ को धारण करने वाले को प्राप्त हो जाए अज धातु गति और क्षेपण अर्थ में है तो गति का एक अर्थ प्राप्ति है जो कि महर्षि ने यहां किया है और दूसरा अर्थ भी किया है चूंकि महर्षि ने सबसे अंत में लिखा सो आप अब शीघ्र हमको प्राप्त हो हमको प्राप्त हो आत्म अजासी गर्भधम अजासी की व्याख्या करते हुए वेद भाष्य में उन्होंने लिखा प्राप्नु याहा तम गर्भधम प्राप्नु याहा तो गर्भ को धारण करने वाले को प्राप्त हो जाए तो एक तरफ तो परमात्मा ही गर्भ को धारण करने वाला है वो किसको प्राप्त हो जाए तो महर्षि ने लिखा हमारे को प्राप्त हो जाए इसका मतलब है हम भी जब गर्भधम गर्भ को धारण करने वाले बन जाते हैं तब तू तो हमारे को प्राप्त हो जाए अहम अजानी गर्भधम मैं गर्भ को धारण करने वाले को जान लू और जान करके मैं भी गर्भ को धारण करने वाला बन जाऊं इस संसार के जो मूल तत्व हैं मूल बातें हैं धर्मादि मूल तत्व हैं अन्य जो अच्छी चीजें हैं उनको मैं धारण कर लूं मैं गर्भ को धारण करने वाला बन जाऊं और ऐसे मुझ गर्भ को धारण करने वाले को तुम अजासी आ अजासी सम्यकता चारों ओर से तू मुझे प्राप्त हो जाए तो आर्य पहले परमात्मा को देख रहा है कि वो गणपति है प्रिय पति है निधिपति है और साथ में उसने ये जाना कि परमात्मा इनकी रक्षा कैसे करता है कितने निस्वार्थ भाव से करता है कितने परहित से करता है कितनी न्यायकारिता से करता है कितनी जागरूकता से करता है उस सब को जान करके मैं भी गर्भ को धारण करने वाला बन जाऊं अपनी सामर्थ्य से जो मेरा क्षेत्र है उसके अंदर मैं भी गर्भ को धारण करने वाला बन जाऊं और उस मुझ गर्भ को धारण करने वाले को हम अजासी प्राप्त हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है और परमात्मा की प्राप्ति का उपाय आधार ये है कि हम भी गर्भ गर्भ को धारण करने वाले बन जाएं क्योंकि परमात्मा भी गर्भ को धारण करता है रक्षा करता है गर्भ बहुत कोमल होता है अशक्त होता है लेकिन उसका आना उत्पन्न होना आवश्यक होता है तो जो कमजोर है उचित है जिसका बढ़ना आना आवश्यक है उसकी हम रक्षा करने वाले बने आगे वो प्रफुल्लित हो आगे वो विकसित हो वो अच्छी चीजें वो अच्छे व्यक्ति वो अच्छे बच्चे आगे विकसित हो जिससे उनका हित हो समाज का हित हो ऐसे जो मूल कारण है गर्व है बीज रूप में है उन सब की मैं रक्षा करने वाला बनू इसका मतलब सीधा क्या निकला कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें भी गर्भ को धारण करने वाला बनाना पड़ेगा दूसरों के हित के लिए काम करने होंगे जो नए हैं उनके लिए हमें कार्य करना होगा हम हमारा जैसा भी स्तर है हमारी अपेक्षा जो भी नए हैं जिस जिस क्षेत्र में हम हैं उनको हमें सहयोग करना होगा वो बच्चे हैं वो नए हैं नई पीढ़ी को हमें तैयार करना होगा ये स्वभाव आना आवश्यक है तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और तब हम परमात्मा को कह सकते हैं कि आप मुझे प्राप्त होइए और हम कैसे गर्भ को धारण करने वाले बन सकते हैं तो पहले हम परमात्मा के गर्भ को धारण करने के सामर्थ्य को समझेंगे परमात्मा किस तरह से गर्भ का धारण करता है परमात्मा कैसे धर्म की रक्षा करता है परमात्मा कैसे सृष्टि के मूल कारणों की रक्षा करता है मूल तत्वों को बचा के रखता है और वो तब मानेंगे परमात्मा को भी गर्भ की रक्षा करने वाला तब मानेंगे जब हम पहले ये स्वीकार कर लें कि समस्त गणों का रक्षक गणपति वो परमात्मा है समस्त निधियों का रक्षक वो परमात्मा है समस्त प्रियों का रक्षक प्रियपति वो परमात्मा है महर्षि दयानंद ने सबसे अंत में लिखा सो आप अब शीघ्र हमको प्राप्त हो परमात्मा उसी को शीघ्र प्राप्त होगा जो गर्भ को धारण करता है जो प्राप्त होने में आप थोड़ा भी विलंब करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा हमारा कल्याण इसी में है कि परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए और परमात्मा को प्राप्त होने का तरीका है कि हम गर्भ को धारण करने वाले बन जाएं। गर्भ का एक दूसरा अर्थ भी है अजानी और अजासी का जो एक दूसरा अर्थ परमा किया महर्षि ने कि अधर्म अविद्या दुष्ट भावादि को अजानी दूर फेंक दू अज धातु का दूसरा क्षेपण अर्थ है फेंक देना अजगति क्षेपण हटा दू दूर दूर किसको हटाऊंगा जो हानिकारक चीज है अधर्म है दुष्ट स्वभाव है तो जो गर्भ को धारण करने वाला है उसको मैं फेंक दू हटा दू अब ये दूसरे ढंग का अर्थ है गर्भ को धारण करने वाले को मैं जानू और तू गर्भ को धारण करने वाले को फेंक दे हटा दे दूर कर दे नष्ट कर दे अब यहां गर्भ का दूसरा अर्थ लेंगे गर्भ छुपा हुआ होता है दिखता नहीं है अंदर होता है गुहा में स्थित होता है प्रकट नहीं होता है हमारा अप्रकट रूप क्या है हमारी अपनी बुराइयां हमारा अपना अधर्म हम उसको छुपा के रखते हैं अंदर रखते हैं अपने गुणों को तो प्रकट करते हैं लेकिन छुपा के रखते हैं दोषों को अधर्म को तो अब गर्भ का अर्थ है वो दोष दुर्गुण अधर्म जो हमारे अंदर हैं और जो उन दुर्गुणों को धारण करता है जो उन दुर्गुणों की रक्षा करता है ऐसा जो गर्भ का धारण करने वाला है उसको मैं जानू मैं अपने उस दोष को जानू और आप उस गर्भ के धारण करने वाले को फेंक दो दूर हटा दो जो गलत चीजों की रक्षा करता है उसको आप फेंक दो हटा दो इसलिए महर्षि ने लिखा आपकी कृपा से अधर्म अविद्या दुष्ट स्वभाव आदि को अजानी दूर फेंक दू तथा हम सब लोग आपकी ही हवा महे अत्यंत स्पर्धा प्राप्ति की इच्छा करते हैं परमात्मा के सामर्थ्य से ये सारा चल रहा है उसके लिए महर्षि ने शब्द दिए सबका कारण आपका सामर्थ्य है जितने गण हैं प्रिय हैं निधि हैं उन सबका कारण आपका सामर्थ्य है ये मूल चीज है इसको आर्य को समझना आवश्यक है जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसे ये भाव बनाना ही होगा कि सबका कारण आपका सामर्थ्य है यही सब जगत का धारण और पोषण करता है आपका ये जो सामर्थ्य है यही सबको धारण पोषण करता है इतनी प्रमुखता से परमात्मा को मस्तिष्क में रखना होगा और हमारे मन में जो आ जाता है कि विभिन्न प्राणी और वस्तुएं ये सब बना रहे हैं तो इसके लिए महर्षि लिख रहे हैं यह जीवादि जगत तो जन्मता और मरता है इसका क्या ये तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है ये तो बहुत कम देर रहता है इनमें क्या सामर्थ्य है ये क्या पालन पोषण करेंगे ये कितना पालन पोषण करते हैं बहुत तुच्छ उस संदर्भ में महर्षि ने लिखा यह जीवादि जगत तो जन्मता और मरता है परंतु आप सदैव अजन्मा और अमृत स्वरूप है आपका ये सामर्थ्य सदा विद्यमान है अमृत स्वरूप है आनंद स्वरूप है तो इस मंत्र को समझने पर इस मंत्र के देवता को समझने पर इस मंत्र का देवता है गणपति गणपति शब्द साक्षात यहां पर आया है गणों का पति वो गणपति परमात्मा उसी को यहां पर समझाया गया है उसी के प्रति भाव रखे गए स्तुति की गई है जो निधियों का पति है वो भी गणपति है निधि भी एक समूह रूप में है जो प्रियों का पति है प्रियपति वो भी गणपति है इसलिए यहां परमात्मा को देवता गणपति देवता इस मंत्र का माना गया इस मंत्र का विषय परमात्मा है परमात्मा को समझना है और उस गणपति को समझ के इस मंत्र को समझ करके जो चलता है वो क्या बनेगा इस मंत्र का ऋषि है प्रजापति वो प्रजापति नाम का कोई ऋषि प्रथम हुआ जिसने इसका साक्षात्कार किया और बहुतों ने इसका साक्षात्कार किया होगा जो परमात्मा को इस ढंग से देखेगा इस तरह से चलेगा वो हर व्यक्ति वो हर आत्मा इस मंत्र का दृष्टा बनेगा इस मंत्र का ऋषि बनेगा और उसका स्वरूप क्या होगा वो प्रजापति होगा प्रजाओं का पालन करने वाला होगा वो कभी भी प्रजाओं का घातक नहीं होगा प्रजाओं का हित करेगा क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी बन गई है क्योंकि उसने परमात्मा को इस ढंग से समझ लिया है तो इस मंत्र का ऋषि हर आत्मा बन सकता है जो जो भी दर्शन करेगा वो इसका ऋषि बनेगा और वो ऋषि क्या होगा उस ऋषि का स्वरूप क्या होगा वो प्रजापति होगा तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना कुछ ठिकाना पाने के लिए हमें प्रजापति बनना है गर्भ को धारण करने वाला बनना है और वो परमात्मा की रीति से बनना है मन में मंत्र के भाव को रखते हुए होम का उच्चारण करेंगे ओ